प्रमाण काम कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम् तद्ब्रह्मो तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकात् श्रुताः सर्वे तदुनात्येति Oh, प्रज्ञा कर्मणि समन्वय वैसे पूर्व प्रज्ञा से मनुष्य की जैसी जानकारी होती है और जैसे कर्म होते हैं और जैसी पूर्व जन्म की बुद्धि होती है उसके अनुसार शरीर का आरंभ होता है एक विवेक की प्रक्रिया विवेक का प्रकाश है जैसे हम ये अनुभव करते हैं कि आप तो सो गई कान हो गए नाक हो गई जीव हो गई त्वचा हो गई ये पता नहीं कि रजाई हो रहे हैं कि चक्कर हो रहे हैं त्वचा सो गई ना बाहर से विषयों का आभास जिस समय बिल्कुल नहीं जा रहा है भीतर उस समय भी भीतर अंतकरण में विषयों का दर्शन होता है ये विलक्षणता है ना ये घड़ी तो तब दिख रही है जब घड़ी की परछाई केमरे की तरह आंख में पड़ती है, भीतर की इसकी परछाई मन में ग्रहण होती है कि ये घड़ी है लेकिन स्वप्न में घड़ी नहीं होती बाहर और आख खुली नहीं होती और परछाई नहीं पड़ती और घड़ी दिखाई पड़ती है तो इसको बोलते हैं वासनात्मक शरीर बना बिल्कुल स्थूल पदार्थ की परछाई वर्तमान में नहीं पड़ रही है भूत की पड़ी हुई परछाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि कैमरा कैमरा ही नहीं है उसके भीतर फिल्म भी है ये हुआ ना जो डाली जाती है निकाली जाती है और बदली जाती है तो ये बात तो साफ मालूम पड़ती है तो इस शरीर को जैसा बनाना हो वो फिल्म बदल जाने चाहिए तब तुम जैसा चाहो अपने तो को ऐसा बना लो तो इस समय हम स्वप्न काल में जब ऐसा सुखते से जागर कामम कामम पुरुषों में बना उस समय हम हाथी बनाते हैं घोड़ा बनाते हैं उस समय महात्मा बनाते हैं उस समय मैदान बनाते हैं उस समय एक दिन दो दिन तीन दिन घड़ी दो घड़ी समय बनाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वप्न में जो सूक्ष्म और स्थूल का भेद मालूम करता है उसमें उस समय वासना कारण रूप से मौजूद है और उसमें जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं वो स्थूल रूप से मालूम करते हैं उस समय की सूक्ष्मता और स्थूलता जो है वो वासना स्थूल भी विषय भी बन रही है और सूक्ष्म होकर के उनमें परिवर्तन भी कर रही है तो वासना तो जीवन के लिए बड़ी उपयोगी वस्तु हुई तो कहते हैं कि यदि आप बच्चे को छोड़ न दें नारायण उसके जीवन का निर्माण करें तो आपको बच्चे को न जाने क्या बना सकते हैं अभी कहो कि हम तो बच्चे के दृष्टा हैं जो होता है सो होने दो ये भ्रष्टापन पर हम आक्षेप नहीं करते हैं हो आपको एक सत्य एक सत्य एक जीवन के लिए बड़ी जरूरी जो चीज है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं क्या आप दाल संवारना पसंद नहीं करते जैसा गया वैसा छोड़ देंगे क्या आप शरीर का मैल धोना पसंद नहीं करते हैं? जितनी मैल पसीने के रूप में निकले उसको शरीर में लगी रहने देंगे या बाहर से लगे तो लगी रहने देंगे तो ये जो दोषापनयन है अपने शरीर में लगे हुए दोष को आप मिटाना चाहते हैं और आप अपने शरीर को और सुंदर और उज्जवल और चमकाना चाहते हैं लकड़ी का संस्कार करते हैं कि नहीं रंगा लगा तो घिस दिया हो और उसे पालिश कर दे क्या चमक गई लकड़ी आप अपने घर में मेज कुर्सी आलमारी निर्दोष और ग्रामीण रखना चाहते हैं और आप अपने शरीर को निर्दोष और गुणान्वित रखना चाहते हैं शरीर में कोई रोग हो तो उसके कीटाणु को निकाल देना और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जैसे शरीर के संबंध में आलमारी के संबंध में कमरे के संबंध में आपकी धारणा है वैसे आपको अपने बच्चे पर भी ख्याल रखना चाहिए और शास्त्र में मन को भी बच्चे ही मानते हैं लाले चित्तदालतम ये चित्त रूपी जो बालक है इसका भी लालन पालन करना चाहिए यदि इसमें संस्कार नहीं करोगे तो ये तो एकदम उच्छृंखल हो जाएगा तो कोई ऐसी जुक्ति निकालनी चाहिए कि बालक स्वयं सावधान रहे तो अपने जो अड़तालीस या सोलह संस्कार करते हैं ना उन संस्कारों का अभिप्राय यही है एक ब्राह्मण को एक बालक को छोटी रखवाई जनेऊ पहनाया उससे कुछ न ऐसा कपड़ा पहनाया ऐसा बाल बनवाया ऐसा कुछ कर्मकांड करवाया कि उसके मन में ये बात बैठ गई कि मैं ब्राह्मण हूँ अब बोले तो बेटा अब तुमको रोज संध्या वंदन करना चाहिए अग्निहोत्र करना चाहिए विद्या पढ़नी चाहिए बलि सदैव करना चाहिए एक प्रकार का संस्कार अब उससे अपनी अहमता को जब स्वीकार कर लेगा ये बात तो आप लोग तरीके वेदांतियों के लिए बहुत स्थूल हाँ, ढंग की है, हाँ। लेकिन फिर भी आपको तो ये सुना दें कि सनातन धर्म जो है वो पहले अधिकारी और पीछे उसके लिए कर्तव्य ये निर्णय करना मत चैतन्य की प्रधानता से है ना जैसे पहले कोई सिपाही भर्ती हो जाए उसका नाम रजिस्टर में लिख जाए उसको अधिकार दे दिए जाए तब उसकी ड्यूटी लगती है कि अब तुम चौराहे पर खड़ा होके मोटर का नियंत्रण करो ये नहीं है कि जो चौराहे पर खड़ा होके वाहनों का नियंत्रण करने लग जाए तो सिपाही कर्म के आधार पर चैतन्य का बंटवारा नहीं होता चैतन्य में जो अहमता है उसके आधार पर कर्तव्य का बंटवारा होता है तो जब आदमी को ये मालूम हो जाएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण के कर्तव्य समझ करके वो स्वयं पालन करेगा छत्र सैनिक अपने कर्तव्य का पालन करेगा व्यापारी अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो ये जो अहंकार में एक प्रकार का संस्कार मरुदोषापनयन और गुणाधान किया जाता है और हीनांग पूर्ति की जाती है हमने देखा है वो जिसके हाथ नहीं है ऐसे आदमी को पेड़ पर चढ़कर देखा है लोटा है ना लोटा जो है ये यहाँ से दूसरा हाथ भी कटा और एक बिल्कुल लगा रहा और उसी बंदे हाथ से पांव के सहारे है पांव के सहारे लोटा मांझते अपनी आंख से देखा है बोला हाँ छठी होकर आया तो लोटा मांग लिया उसने अपने हाथ से लोटा मांग लिया वो पानी का प्रयोग करता है भोजन का प्रयोग करता है अच्छा आपने ये सुना होगा पांव से लोग लिख लेते हैं जिनके हाथ नहीं होता है वो पांव में कलम लेते हो पांव में कलम लेके लिखते हैं आप क्या समझते हैं संस्कार कोई चीज नहीं है तो <clears throat> हमारे भेड़िया के बालक रामू को अब है ना खड़ा होके चलना सिखा दिया है हाँ, अब उसको बोलना भाषा तो व्यक्ति को छोड़ देते कि अच्छा जो चाहे जिस भाषा में बोले हाँ तो वो दिल्ली की तरफ जाओ जाओ बोलने लगेगा है ना वो वो कुत्ते की तरफ काय का कर ये जो हम लोग बोलते हैं भाषा ये नेचर नहीं है वो हाँ ये नेचर नहीं है और ये ब्रह्म भी नहीं है और प्रकृति भी नहीं है और नेता तो कुछ बोलना है आवाज करना क्योंकि मैंने सब करना नेता है लेकिन व्यवस्थित ढंग से भाषा बोलना जिससे हम अपनी बात दूसरे को समझा सकें और दूसरे की बात समझ सकें ये बात बिना संस्कार के हो सकती है आप समझते हैं कि आपका बालक बिना अक्षर सिखाए अंग्रेजी है ना कर लेगा ऐसा समझते हैं तो ये सब हम भूमिका काहे को बांध रहे हैं इसलिए बांध रहे हैं कि ये मन रूपी जो बालक है ना हाँ, इसको भी उद्दंड उत्खृंखल निर्मर्याद नहीं छोड़ना चाहिए इस बच्चे का भी संस्कार करना चाहिए इसमें भी जो दोष की आदत है उसको दूर करना चाहिए और जो गुण की आदत है उसको ग्रहण करना चाहिए है ना इसलिए वेदांत देश के स्तर पर आपके मनुष्यत्व में विशेष उत्पन्न करके संस्कार के द्वारा संस्कार के द्वारा आपके मनुष्यत्व में विशेष उत्पन्न करके विशेष विशेष भाव धर्म का विधान करता है तो सन्यासी हुए तो विरक्त हो घूमो मंत्री हुए तो राजकार संभालो यदि तो अहंता में जिसे सब तो मनुष्य ही है सबके अंदर अहम अहम खुलता है लेकिन मंत्री का अहम जो है वो कर्तव्य पालन के लिए दूसरे प्रकार की जिम्मेदारी रखता है और सपराधी का जो अहम है वो कर्तव्य पालन में दूसरे प्रकार की जिम्मेवारी रखता है एक चपरासी अहम होता है, है? एक क्लर्क अहम होता है एक अफसर अहम होता है, है एक मिनिस्टर अहम होता है अहम के ये अच्छा ये सब अहम उत्पन्न है कि नहीं तो नेचर से ही आए हैं सब के सब ये नेचर से नहीं आए हैं ये सब के सब उत्पादित अहम है जिससे मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करता है इसलिए वेदांत दर्शन में इसका बड़ा बढ़िया निरूपण है बोला कर्ता शास्त्रार्थ अभ्यास ये आत्मा करता है वो भ्रष्टा नहीं करता है और ये क्या गड़बड़ है तुम्हें जो दृष्टा है वो तो, तो कर्ता का भी दृष्टा है है ना हाँ। हाथ से उठाने बैठा पकड़ने का काम होता है पाँव से चलने का काम होता है मुंह से बोलने का काम होता है और करता जो है वो मुंह से बोलता है हाथ से करता है पाँव से चलता है वो तीन नहीं है वो आंख से देखता है कान से सुनता है इंद्रियों के भेद से करता में भेद नहीं है वो व्यवस्थापक अहम है वो सत्ता के प्रधान की प्रधानता से जन सत्ता की प्रधानता से कर्म को अपने अंदर स्वीकार करके सत्ता शास्त्रार्थ अपराध कानून जो बनेंगे वो कर्ता के लिए बनेंगे बोला पाप पूर्ण जो बनेंगे वो कर्ता के लिए बनेंगे अपराध और सजा जो होंगे वो कर्ता के लिए होंगे वो सृष्टि के व्यवहार को ठीक चलाएगा बच्चे को आप यो मत छोड़ दो शरीर को भी यो मत छोड़ दो मन को भी यो मत छोड़ दो और ये कहो और इसका नाम संस्कार है ये वेदांत दर्शन का ये सिद्धांत को अब ढूंढ लेना है ना कर्ता शास्त्रार्थ ये सूत्र है क्योंकि शास्त्रार्थ जो है अगर दवा से रोगी को फायदा न हो तो आयुर्वेद शास्त्र व्यर्थ है ना आप देखो अगर औषधि से फायदा न हो तो ये सारा जो डॉक्टरी का शास्त्र है ये व्यर्थ गया है हाँ? तो डॉक्टरी शास्त्र भी उपयोगी है आयुर्वेद शास्त्र भी उपयोगी है कानून भी उपयोगी है और मनुष्य की चोरी छुड़ाई जा सकती है उसको साहूकार बनाया जा सकता है है ना ऐसा हार मत मान लो अपने आप को डाल मत दो तो ये बात सुना रहे कि हम स्वप्न में ये देखते हैं कि वासना के अनुसार पदार्थों का निर्माण होता है उस समय कहो कि उसी समय आंख के रास्ते रूप का प्रतिबिंब अंतकरण में पड़ रहा हो या काम के रास्ते शब्द का प्रतिबिंब पड़ रहा हो है? या नाक के रास्ते कोई सुगंध जा रही हो या त्वचा के रास्ते रजाई और कंबल का भेद मालूम कर रहा हो कोई बात नहीं है सब बेलक अपनी अपनी जगह पर सो गए हैं जैसे सुते तू जागरती सब ग्रहण सो गए लेकिन कोई जाग रहा है हाँ। अच्छा बोले भाई जाग रहा है तो बिल्कुल ड्रिंग मात्र ही जाग रहा है और कौन जाग रहा है बोले माँ ये सोती हुई इंद्रिया और ब्रह्मा इनके बीच में एक चीज और है केवल साक्षी की सन्निधि होने से ही अंतकरण वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता अंतकरण में वासना होना जरूरी है ये देख लो क्योंकि साक्षी की सन्निधि में तो सुषुप्ति में भी रहता है उस समय तो किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता है गाढ़ सुषुप्ति में साक्षी तो मरता नहीं है और गाढ़ सुषुप्ति में अंतकरण भी मरता नहीं अंतकरण भी सुषुप्ति भी अंतकरण का एक व्यवहार है वृत्ति है वृत्ति है सुसुप्ति भी अंतकरण की एक वृत्ति है वृत्ति हमारे व्यवहार है बर्तन है और जैसे हमारे जीवन में विश्राम करना और काम करना दोनों हमारी स्थिति है वैसे अंतकरण का काम करना और विश्राम करना ये दोनों स्थिति है तो यदि साक्षी के सानिध्य मात्र से ही अंतकरण हाथी बन जाए घोड़ा बन जाए धरती बन जाए मनुष्य बन जाए स्त्री बन जाए तो गाढ़ सुसुप्ति कभी किसी को होनी नहीं चाहिए क्योंकि उस समय भी साक्षी जो का कह रहता है तो गाढ़ सुसुप्ति में और स्वप्नावस्था में फर्क होता है और स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था में फर्क होता है जागृत अवस्था में बाह्य वस्तु का प्रतिबिंब पड़ रहा है और स्वप्नावस्था में नहीं पड़ रहा है और यदि कहो कि साक्षी स्वप्नावस्था में पदार्थों की सृष्टि करता है तो सुसुप्ति में क्यों नहीं करता गांव सुसुप्ति में क्यों नहीं करता इसका अर्थ हुआ कि वासना जब अभिव्यक्त होती है तब स्वप्न में पदार्थों का निर्माण होता है मारे अत्यंत शांति जो है वहाँ भी पदार्थ नहीं है और अत्यंत व्यवहार जहां है वहाँ स्थूल पदार्थ है और स्वप्न में वासनात्मक पदार्थ है हमारी वासना ही पदार्थों का निर्माण करती है कामम कामम पुरुषो निर्मिमा अब स्वप्न के पदार्थ में देखो सर्वत्र क्रांतिजन्य जो मानस पदार्थ होते हैं वहां विषय का और विषय का अधिष्ठान एक ही होता है इस नियम को समझना चाहिए जो पदार्थ ध्यान अच्छा आपने एक पेड़ देखा ठूठ और उसको आपने भूत समझा तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा ना कि भूत तो पेड़ में है और भूत होने का जो भ्रम है जो कल्पना है वो तो हमारे अंतकरण में है लेकिन वहां तो पेड़ में तो भूत है नहीं वहां तो पेड़ ही पेड़ है अच्छा तो जहां भूत की कल्पना है कल्पना ही भूत का आकार है कल्पित जो भूत है उसका अधिष्ठान भूत नहीं है वो पेड़ नहीं है स्थान नहीं है कल्पित भूत का अधिष्ठान जो कल्पना का अधिष्ठान है सो है आपने रखी में सांप की कल्पना की बोले भाई वो देखो तो सांप है एक देखा सांप नहीं है रस्सी है तो तुमने कहा नहीं नहीं रस्सी में सांप है बोले दादा रस्सी हमको रस्सी में सांप दिख रहा था तुमको रस्सी में सांप दिख रहा था कि अपने मन में सांप दिख रहा था अपने मन में सांप दिख रहा था तो भ्रांति से जितनी भी वस्तु दिखाई पड़ती है उसमें भ्रांति की कल्पना और विषय की उपस्थिति अलग नहीं होती है समझो कि ये घड़ी हमको दिखाई पड़ रही जागृत अवस्था है घड़ी का प्रतिबिंब आंख में पड़ा और मन में हमको दिख रहा है कि घड़ी है, है? लेकिन रखा हो कहीं फूल गुलाब का फूल रखा हो और ख्याल हो जाए कि ये घड़ी है तो घड़ी गुलाब के फूल में रखी है कि हमारे मन में रखी है हमारे मन में रखी है ये बात आपको इतना विस्तार करके क्यों सुना रहे हैं अब इसका कारण सुनो एक में अनेक अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न सत में असत चित्त में अचेत आनंद में दुख अद्वितीय में द्वैत स्व में पराया जो दिखाई पड़ता है वो भ्रम से दिखाई पड़ता है लो हे भगवान अनंत वस्तु में जब शांत पदार्थ दिखाई पड़ेगा तो आप क्या समझते हैं कि अनंत का कोई हिस्सा वो घेरेगा जिस चीज में हिस्सा नहीं होता उसी को अनंत कहते हैं ये सर्व शब्द का अर्थ और अनंत शब्द का अर्थ अलग अलग है है ना जैसे इस मेज पर है? इस मेज पर जितनी चीजें रखी हैं ये जटा कुसुम है इसी को जटा कुसुम बोलता है ना ये जटा कुसुम है ये तुलसी दल है ये लाउड स्पीकर है ये घड़ी है ये पुस्तक है ये बिस्तर है ये चश्मा है ये सब को क्या बोलेंगे तो सर्व बोलेंगे मेज पर रखी हुई सब चीजें तो कई चीजें जोड़ करके सब सब बनता है बना और अनंत जो है वो कई चीजों के जोड़ का नाम नहीं है एक चीज भी और सब चीज भी जिस एक आधार में एक अधिष्ठान में दिखाई पड़ती है उसको अनंत बोलते हैं है ना तो उसमें सूरत पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिखता है ना वो हमारे मन की कल्पना में दिखता है हमको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं दिखता है हमको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना होती है ये क्यों होती है कि तुम देह में मैं करके बैठे हो अच्छा क्या हमारा पूरब और तुम्हारा पूरब ये सही है, है? आप बताओ हमारे सामने बैठे हुए हो हमारा उत्तर और तुम्हारा उत्तर दोनों का एक है हमारे जो उत्तर है ये पुस्तक वो तो तुम्हारे दक्षिण है तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में उत्तर दक्षिण की कल्पना देह की अपेक्षा से कर रहा है और जिस अधिष्ठान में दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम ऊपर नीचे की कल्पना न देह की अपेक्षा से की जा सकती न धरती की और न सौर मंडल थे और न ब्रह्मांड मंडल थे न कोट कोट ब्रह्मांड मंडल थे न प्रकृति थे प्रकृति की अपेक्षा से भी जिसमें ऊपर नीचे दाइने बाएं की कल्पना नहीं की जा सकती उस अनंत रूप अधिष्ठान में ठूठ में धूप की तरह है फूल में घड़ी की तरह फूल में घड़ी की तरह ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कल्पित है तो कल्पना का जो अधिष्ठान है है ना चैतन्य कल्पना का जो अधिष्ठान चैतन्य है वही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण की कल्पना का भी अधिष्ठान है और मन का जो आधार है वही कल्पना का भी आधार है हे भगवान अब देखो आपको एक दूसरी बात बताते हैं ये कल तो आपको सुनाई था कि ये क्या नाम हम लोगों के जो शनिवार रविवार है ना ये अंग्रेजी में क्या हो जाते हैं कुछ संडे मंडे हो जाते हैं हाँ बस बस वही है ना ये फारसी में कुछ और हो जाते हैं तो ये नाम को अपना काम चलाने के लिए है ना ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे हम लोग अपना व्यवहार चलाने के लिए जिस तत्व में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना करते हैं वो इसे काल तत्व में है ना जिन सब बराबर है लेकिन देखो धर्म कमाने के लिए इन्हीं दिनों में एक एकादशी होती है ये संस्कार है ये धर्म कमाने के लिए होती है वो तो सोमवार है काय के लिए है और व्रत करने के लिए चंद्रमा की पूजा करने के लिए धर्म कमाने के लिए है तो जब तुम्हें धर्म कमाना है और पाप मिटाना है ये व्यवहार करना है तो तुम्हारे सोमवार और रविवार में भेद है परंतु जैसे सोमवार रविवार अब ये देखो रात और दिन है ना ये भी काल में कल्पित है वो अभी तरसों तरसों अखबारों में जब पढ़ा ये जो गया है ना अमेरिका का सर्वेयर छान रहा है चंद्रमा को सर्वेक्षण कर रहा है उसका <coughs> सर्वेयर है ना तो ये भी अध्ययन का ही है वो अधीयते में जो ई है ना वही है सर्वेयर सर्व का अध्ययन कर रहा है तो बोले कि भाई वहाँ तो हमारे पंद्रह दिन के बराबर का एक दिन होता है और गर्मी की ऋतु है बड़ी प्रबल गर्मी वहाँ पड़ रही है और पहरी है तो मशीनें गल जाएंगी ऐसा खतरा पैदा हो गया है ऐसा पड़ा हो तो ये बात तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़े जोर शोर से लिखी हुई है कि चंद्रमा में पंद्रह दिन का दिन हमारे पंद्रह दिन के बराबर का दिन और क्या नाम है चंद्रमा के क्या नाम और हाँ, तो वही हमारी पंद्रह रात्रि के बराबर पितृपक्ष और शुक्ल पक्ष जो बोलते हैं पितृ श्राद्ध पितृपक्ष और देव पक्ष हाँ, हाँ, श्राद्ध पक्ष विधुर दो भागे की तरह बसंती तो वो तो बात मिलती है लेकिन आप लोग देखो कि ये सोम मंगल बुध बृहस्पति ये काल में अनंत काल है बोले ऐसे मत कहो कि सब दिनों को मिला करके जो काल होता है सब रात्रियों को मिलाकर जो काल होता है है ना सब पक्षों सब महीनों सब वर्षों सब युगों मनवंतरों कल्पों को मिला करके जो सर्वात्मक काल होता है तो नहीं वो सर्वात्मक काल का संबंध तो कारण से है वो जैसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का संबंध कारण से है ना वो सर्वात्मक है उपनिषद में आप देखो मान लो कि उपनिषद में है एक सर्वेश्वर सर्वज्ञ एक सर्वेश्वर एक जोनी सर्वज्ञ सर्व की जोनी है प्रभवा प्रेय विभूता नाम कहिए तो हुआ सर्वज्ञ प्राज्ञ लेकिन जो आरत्वम अदीर्घम अनु जो है ना अचिंत्यम अलक्षण मध्य प्रदेशम जो है तो वे उससे न्यारा है तो ये जो सर्वात्मक काल है ये जिस अधिष्ठान में भाग रहा है वो अकाल है वो कालातीत है वो काला भाव से उपलक्षित है उस काला भाव से उपलक्षित वस्तु में हमारे मन में जो काल की कल्पना हो रही है तो वो कल्पना का जो अधिष्ठान और प्रकाशक है वही उस कल्पित सर्वात्मक काल का भी प्रकाशक और अधिष्ठान है तो तीनों बात हो गई पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देश है और भूत और घड़ी ये पदार्थ है और सोमवार मंगलवार आदि ये काल माने देश काल पदार्थ ये तीनों जो मालूम पड़ते हैं विषय रूप से मालूम पड़ते हैं सो भी है ना और उनके विषय में जो कल्पना होती है तो भी और जो अपने में कल्पक पने का अभिमान होता है व्यस्ती समस्ती के रूप में सो तो भी जीव और ईश्वर दोनों है ये जिस दृढ़ मात्र वस्तु में केवल भार मात्र है केवल भान मात्र हैं कल्पना का अधिष्ठान और कल्पित का अधिष्ठान कल्पित के अधिष्ठान को ईश्वर बोलते हैं और कल्पना के अधिष्ठान को जीव बोलते हैं लेकिन असल में कल्पना और कल्पित ये दोनों दो देश में दो काल में दो रूप में नहीं होते हैं जो पदार्थ पदार्थ कालिक चित्त और चित्त कालिक पदार्थ जैसे स्वप्न के जो पदार्थ है ना वो जितनी देर पदार्थ उतनी देर पदाकार मन और जितनी देर पदाकार मन उतनी देर पदार्थ जो पदार्थ चित्त कालिक होते हैं वो जिस अधिष्ठान में कल्पना होती है उस अभिष्ट, उसी अधिष्ठान में होते हैं माने चित्त में ही होते हैं चित्त से न्यारे नहीं होते हैं और चित्त जिसमें है उसी में वो पदार्थ हुए हैं इस प्रकार से देश के होते हैं माने चित्त में ही होते हैं चित्त से न्यारे नहीं होते हैं और चित्त जिसमें है उसी में वो पदार्थ हुए हैं इस प्रकार से देश के हिस्से और सब हिस्सों का जो काल के हिस्से और सब हिस्सों का जो और वस्तुओं के हिस्से और उनका सब का जो ये जो देश काल द्रव्य की समस्ती है ये समस्ती है जिस अनंत में है ना जिस अनंत में कल्पित है है ना उसी अनंत में उसकी कल्पना भी है और जिस अनंत में उसकी कल्पना है है ना उसी में वो कल्पित भी है अर्थात ब्रह्म और आत्मा से पृथक न कल्पित है और न कल्पना है न आत्मा से पृथक कल्पित और कल्पना है और न ब्रह्म से पृथक कल्पित और कल्पना है इसलिए कल्पित और कल्पना से विलक्षण आत्मा और ब्रह्म एक है, है? अच्छा इसका अभिप्राय ये हुआ कि भेद का जो बोझ था एक बार समझदारी की तो जरूरत पड़ी लेकिन एक बार समझदारी आ जाने के बाद भेद का ही बोझ निवृत्त हो गया और तो क्या विलक्षण एक नृत्यो महिमा ब्राह्मण तुम्हारी महिमा विलक्षण है नृत्य महिमा न कर्मणा वर्धते नो कनिया कर्म से न तुम्हारी वृद्धि होगी न कर्म से तुम्हारा ह्रास होगा अरे एक बार नारायण इस तत्व का विचार तो करो कि क्या क्या अखंड वस्तु है क्या अग्रह वस्तु है ये केवल कोई मन की कल्पना नहीं केवल मन की भावना नहीं है ना मन की कल्पना और भावना के बोझ को हमेशा के लिए मिटा देने वाले नाकल कपति किम हम साधु ना करवम किम हाँ, हम पाप न करवम हाँ, तुम्हें कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा पश्चाताप से मुक्ति हो जाएगी कर्म के कर्तापन से मुक्ति हो जाएगी कर्म के भोक्तापन से मुक्ति हो जाएगी है ना उसके फल के साथ संबंध से मुक्ति हो जाएगी उसके सत्यत्व का जो बोझ है पहाड़ पर उस विश्व पहाड़ तरीका तो उस बोझ से मुक्ति हो जाएगी ऐसे का अपने आप को जानने से तो जय ईशो सुप्तेशु जागृति कदाचिन न स्वीति इत्यर्थ है जो कभी सोता ही नहीं है तो नींद नहीं आती है फिकर छोड़ दो तो क्यों जो बोले तुम कभी सोते ही नहीं हो कल कल वहां सुनाया था ना हमारे उत्तर प्रदेश में आगरे के पास एक गांव है खाड़ा उसका नाम है खाड़ा अब से कुल पच्चीस वर्ष पहले उस गांव में महाराज वेदांतियों का जमघट हो गया वह वृत्ति बस वृत्ति का पाप होता वृत्ति का स्वाध्याय होता वृत्ति प्रभाकर जो ग्रंथ है ना निश्चल दास जी का बड़ा पांडित्य पूर्ण जब उन्होंने विचार सागर बनाया तब लोगों ने कहा क्या बच्चों का खेल बनाया है विचार सागर कोई ग्रंथ है वैसे है बड़ा गंभीर हो और सार सार है वेदांत का लेकिन उसमें तो प्रक्रिया का वर्णन है ना प्रक्रिया का अरे नहीं नहीं प्रक्रिया का नहीं प्रमाण का निरूपण करो तब तुम्हारे पांडित्य का पता लगा तो निश्चल दास ने वृत्ति प्रभाकर नाम का ग्रंथ लिखा वहां वृत्ति प्रभाकर के सिवाय और कोई ग्रंथ का पास ही न हो जा करके लंबे नारायण वहां कह रहे हैं वहाँ के लोग अच्युत मुनि जी का सत्संग करें लंबे नारायण का सत्संग करें तो एक बार वहां बड़ा भारी है ना उत्सव हुआ कर्पात्री जी महाराज गए उन दिनों जवानी थी जब की बात करता मैं गीता प्रेस में नहीं गया था जब की बात करता करतात्री जी के गुरु जी थे विश्वेश्वराश्रम जी ऊर्जा बाबा जी महाराज हरनाम दास जी अभयानंद जी वो उधर के जो वेदांति पंडित जीवन दत्त जी अखिलानंद जी सब उधर आ रहे तो खाने वालों ने एक प्रश्न निकाला ये प्रश्न निकाला कि ये जो हमको स्मृति होती है कि हमने सपना देखा हम सोए ये स्मृति होती है ना स्मृति तो ये किसको होती है सुसुप्ति की स्मृति किसको होती है मुख्य रूप से ये बताओ कि हम रात में गाढ़ी निद्रा में सोए और कोई सपना नहीं देखा तो गाढ़ी निद्रा में कौन था जो अब याद कर रहा है कि हमने गाढ़ी मुद्रा देखी बोले तो साक्षी था अभी चर्चा चल रहे साक्षी था बोले तो साक्षी को स्मृति होती है क्या है ना जिसमें संस्कार होता है उसी को स्मृति होती है ये हम उनके प्रश्न का खुलासा कर रहे हैं बोला वो इतना फिर पूछते थे वो तो सीधे ही दम गोला फेंकते थे विश्व शुद्धि की स्मृति किसको होती है उड़िया तो दादा जी महाराज के सामने उन लोगों ने बड़े घटाकोष के साथ अपना प्रश्न रखा तो बाबा बोले कि सुसुप्ति की स्मृति होती ही नहीं ये तो नई फुरना है आप देखो ये नई फुरना का मतलब समझो जैसे आप कभी स्वप्न देख रहे हो कि अभी मैं छह घंटे सो के उठा हूं तो क्या आप सपने में छह घंटे सो के उठते हैं है? अगर बोले हम छह महीना पहले हमारी उम्र पच्चीस बरस की है और रोज रात को सोते हैं ऐसा मालूम पड़ता है आपको सपने में ये मालूम पड़े कि हमारी उम्र पच्चीस बरस की है पचास बरस की है सत्तर बरस की है और सपने में आपकी उम्र इतनी मालूम पड़े तो ये भी तो मालूम पड़ेगा ना कि हम रोज सोते हैं तो क्या सपने में भी ये मालूम पड़ता है कि सत्तर बरस से हम लोग सोते आए हैं वो सच्चा है तो वो सच्चा नहीं है स्वतंत्र तो प्रभावी सुवृत्ति के उसमें क्या आश्चर्य है लेकिन साक्षी जो है उसको कुछ ऐसा वैसा नहीं समझना है ना तो हम पहले तो एक मध्यम कोटि की बात आपको सुना रहे हैं कि सुसुप स्वप्न काल में बाहर की वस्तुएं इंद्रिय द्वार से प्रतिबिंबित नहीं होती और साक्षी के सान्निध्य मात्र से ही यदि अंतकरण निर्माण करता हो तो द्वार सुसुप्ति में भी निर्माण करना चाहिए तो तब का तो एक वासना नाम का पदार्थ और है जो उदय हो गए तो साक्षी के सान्निध्य में पदार्थ बने और उदय न हो गए तो साक्षी के सान्निध्य में पदार्थ न बने तो ये जो हमको जागृत में ये जो वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं है? ये असल में उसी वासना से ये देह ये शरीर ये सब बनता है और साक्षी जो है वो जैसे स्वप्न में असंगही होता है जैसे सुषुप्ति में असंगही होता है वैसे नारायण जागृत में भी और इतने पदार्थों के बनने बिगड़ने पर भी असंग ही है साक्षी उसकी अद्वैतता में जागृत की जैसे स्वप्न की सृष्टि होने से उसकी अद्वितीयता में कोई बाधा नहीं पड़ी वैसे ही जागृत की सृष्टि होने से भी उसकी अद्वितीयता में कोई बाधा नहीं पड़ी ये नहीं समझना कि जब हम हाथ पाँव बांध के बैठेंगे तब हम ब्रह्म हो जाएंगे है ना ऐसी कल्पना नहीं करना कि जब समाधि लगेगी तब ब्रह्म हो जाएंगे करना बोले देखो किसी को विश्राम करने में मजा आता है तो किसी को श्रम करने में मजा आता है हमने अभी दो चार दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि एक आदमी ने नाचने का जो रिकॉर्ड था ना हिन्दुस्तान का है कितने का नौ घंटे का कि ग्यारह घंटे का नौ घंटा हाँ अच्छा उसको खुशी हुई कि उसको दुख हुआ देखो नौ घंटे के विक्षेप में उसको क्या मजा आया है हाथ हिलाना पांव हिलाना है ना चिबुक खिलाना आंख खिलाना सिर हिलाना है हाँ। तो जो लोग कहते हैं कि केवल शांति में ही आनंद है उनको ये मालूम होना चाहिए कि नृत्य में भी आनंद आता है, है? जो लोग जो लोग कहते हैं कि शांति में ही आनंद है वो कहते हैं है? तो जो लोग कहते हैं कि उपवास करने में बड़ा आनंद है कई दिन के लिए भाई है उपनिषद में तो लिखा है कि पंद्रह दिन उपवास करोगे तो इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी आप देख लेना उपनिषद में ये बात लिखी है तो भोजन में आनंद है कि नहीं है ना कि तुम जब ये कहते हो कि उपवास में आनंद है सब सत्य के केवल एक पहलू का निरूपण करते हो और जब कहते हो कि भोजन में आनंद है तब सत्य के एक पहलू का निरूपण करते हो ये सत्य के दोनों पहलू समान कक्षा में कल्पित थे यदि मजा है तो भोजन और उपवास दोनों में है और यदि मजा नहीं है तो न मजा भोजन में है न उपवास में है अपने आप में है है ना जिसमें तुम रहोगे उसमें मजा है जिसमें तुम रहोगे उसका नाम मजा है तो जैसे भोजन और उपवास है ऐसे विक्षेप और शांति है हमेशा हाथ पांव डाल के बैठ तो सकते नहीं है ना इसीलिए जो सत्वज्ञ महापुरुष होते हैं ना उनको बंधन में और मोक्ष में हाँ, बंधन में और मोक्ष में दोनों में मजा है तो बोले एक आदमी ने आके गाय बांध दी आश्रम में दूध देती है बड़ा मजा आता है एक दिन चोरी चली गई चोरी ने कहा महाराज गाय चोरी चली गई तो बड़ा मजा हमें गोबर फेंकना पड़े न मुंह उठाना पड़े न धोना पड़े न खिलाना पड़े बड़ा मजा तो मजा जैसे हम रहते हैं उसका नाम मजा है तो एक बार एक महात्मा थे उन्होंने कहा हमारे पास रहो तो हमने कहा महाराज देखो हम हमारा सोना हमारा जागना हमारा बोलना हमारा खाना है ना हमारा भजन करना इसको यदि तुम जो की तो स्वीकृति देते हो तब तो हम रह सकते हैं और यदि तुम्हें कुछ खटखट करनी हो है ना खटखट करनी हो कि ऐसे नहीं ऐसे है ना करता मत बनो दृष्टा बन जाओ और दृष्टा मत बनो करता बन जाओ दोनों खटखट नहीं चाहिए हो दोनों खटखट नहीं चाहिए तब भूखे रहो तो ये वेदांत की विद्या की वेदांत विद्या की विशेषता ही यही है कि जो गाढ़ चतुर्थी में है वही स्वप्नावस्था में है वही व्यवहार में है न सत्यता में परिवर्तन होता है न आत्मा में परिवर्तन होता है न ब्रह्म में परिवर्तन होता है परिवर्तन मात्र यदि जड़ में है तो सच्चा ये देखो ये ये ये बात आप हो आप किसी भी सगुणवादी हाँ, किसी भी सगुणवादी से सगुण ईश्वरवादी से ये प्रश्न आप कर सकते हो कि जब सगुण ईश्वर चैतन्य है तब वो जगत के रूप में बदलता है कि बदला हुआ दिखाता है यदि बदल गया तो चैतन्यता कहाँ गई चैतन्य तो उसको कहते हैं कि जो बदलने को जान रहा है जो बदल रहा है वो दृश्य हो गया ना हम सेंद्रीय पदार्थ को जड़ नहीं बोलते हैं सेंद्रीय पदार्थ को चैतन्य और निरंद्रीय पदार्थ को जड़ नहीं बोलते हैं है ना जो दृष्टा है उसको चैतन्य बोलते हैं जो दृश्य है उसको जड़ बोलते हैं और दृष्टा ब्रह्म है ये ज्ञान होने से दृश्य का अस्तित्व बाधित हो गया अब देखो तो ईश्वर यदि संसार बन गया तो जिस अंश में वो संसार बन गया एक अंश में चेतन रहा एक अंश में संसार बन गया तो ईश्वर के दो हिस्से हो गए और जब वो पूरे हिस्से से ही चैतन्य से जड़ हो गया है तो ईश्वर रहा कहा है तो ईश्वर चैतन्य रहते हुए ही अपने को जगत के रूप में दिखाई है ना दिखा रहा है ऐसा समझो दिख रहा है स्वयं को स्वयं दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में ये जो जागृत का है ना जागृत का प्रकाशक दृढ़ मात्र अधिष्ठान चैतन्य है स्वप्न का प्रकाशक दृढ़ मात्र अधिष्ठान चैतन्य वही है और सुसुप्ति का भी दृढ़ मात्र प्रकाशक अधिष्ठान चैतन्य वही है और संपूर्ण व्यस्तियों का भी अधिष्ठान चैतन्य वही है संपूर्ण समस्तियों का भी अधिष्ठान चैतन्य वही है है ना और उसमें ये एक और अनेक ये युद्ध और कुल ये दोनों केवल भान मात्र ही है सत्य वस्तु नहीं है इसलिए तदैव सुखम तद ब्रह्म जिसके सानिध्य में वासनाएं सोती हैं जिसके सानिध्य में वासनाएं जाग करके अर्थाकार प्रतीत होती हैं जिसके सानिध्य में अर्थ का निर्माण करती है, है? जो जाचना ही मरा चंत राजा आगे बुधे हाँ। देखो एक और ज्ञान होने के लिए बोलते हैं राजो लिंगम संसार में राजद द्वेष होना अज्ञान की पहचान है तो बोले पहचान गया तो हम परमात्मा हैं तो बोले संत राजा देव बुधे जिसको वो ज्ञानी के रूप में देख रहा है अपना आत्मा नहीं देख रहा है अन्न देख रहा है जो उसको अन्न देख रहा है उसमें राजद में देखा करे जो उसको अपने से अन्य रूप में देख रहा है वो तो उसमें राजद देखा करे लेकिन जो अपने को ब्रह्म रूप में देखता है वो तो अपने को परिच्छिन्न नहीं देखता है तो उसमें राजद कहाँ करो बोले ये मारे हुए हैं राजा द्वेष कहते हैं बोले मारे हुए हैं तिष्ठन प्रज्ञान तत्कार्य सदा बोधे न मारता न भीतर बोध सम्राज की प्रत्युत तस्य ही पंचदशी में आया ये बोध रूपी सम्राट है है ना इसने राग की जड़ अविद्य उखाड़ के फेंक दी है ये बाधित है बाधित है माने ये सिनेमा जो पर्दे पर है बोला ये पर्दे पर है ये राजद देश हैं ये न अर्थाभ्यास है और न संसर्ग अभ्यास है न तो वो चीज सच्ची है क्रिया सच्ची है और न तो वो वस्तु सच्ची है और न तो उसके साथ संबंध सच्चा है न अर्थाभ्यास है और न संसर्गाभ्यास है न ज्ञानाभ्यास है सीताराम सीताराम सीताराम तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदुच्य अरे यही हो यही जो ईश्वर तदेव जो ये है तुम्हारा यही मैं सबका है ना मैं सबका सच्चा अर्थ सदैव शुक्र शुक्र मान शुभ्र है शुद्ध है इसमें दूसरी किसी चीज का मिश्रण नहीं है शुक्ला शुक्रम शुक्ला बिल्कुल स्वच्छ है निर्मल सफेद है इसमें कोई माया हल लगा हुआ नहीं है कर्म बल लगा हुआ नहीं है आरो बल लगा हुआ नहीं है कर्म बल क्या होता है है ना कि हम पापी हैं हम पुण्य आत्मा हैं इसका नाम कर्मबल है वो है ना कर्म के साथ अपना तादाद को बनाए करके अभिमानी बन बैठना इसका नाम कर्मबल है और मैं अकर्ता हूँ ये वृत्ति हमेशा बनी रहे कि मैं अटरता हूँ अरे ये वृत्ति बनाने में तो तुम जेल खाने में तो हाथ तुम्हारे हथकड़ी में कर रहे हो हाँ। ये बात आप निश्चित समझो जो चीज सुसुप्ति में नहीं भागती वो कल्पित है उसका नाम चाहे कुछ रख लो है ना चाहे उसका नाम रखो कैलाश चाहे गुरु चाहे साकेत चाहे बैकुंठ चाहे समाधि चाहे है ना चाहे ईश्वर चाहे जीव चाहे आत्मा चाहे परमात्मा जो चीज सुसुप्त काल में भागती ही नहीं है वो अज्ञान के पेट में पैदा होती है और अज्ञान के पेट में रहती है और अज्ञान के पेट में समा जाती है और वही अज्ञान जहाँ उस अज्ञान का अस्तित्व नहीं है उस ब्रह्म में उस वस्तु की क्या चर्चा तुम्हारा हिंदू कना मुसलमान कना अरे नारायण ब्राह्मण कना सन्यासी कना स्त्री कना मर्द कना ठीक है सुसुप्ति में रहता है काल सुसुप्ति में तो जो चीज अंधकार में लीन हो गई अज्ञानांधकार में जो चीज लीन हो गई वो अज्ञानांधकार के अस्तित्व में भागती है भूत की तरह निद्रा दोष से और अज्ञानांधकार की निवृत्ति स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक स्वयं ब्रह्म सदैव शुक्रम शुक्रम माने द्वैत के मिश्रण से रहित एक चीज में जब जब दूसरी चीज मिल जाती है तब वो शुद्ध नहीं रहता जैसे दूध में पानी मिला देते हैं तब उसकी संज्ञा शुद्ध दूध नहीं होती है दूध और पानी दोनों एक मिल गया तो वो शुद्ध पानी है कि शुद्ध दूध है न शुद्ध पानी है न शुद्ध दूध है वो अब और मैं अकर्ता हूँ ये वृत्ति बनी रहे मैं दृष्टा हूँ ये वृत्ति बनी रहे मैं साक्षी हूँ ये वृत्ति बनी रहे जब मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति बनी रहे अरे राजा ये तो ऐसी है ना ऐसी बात हुई कि सारे आकाश में उड़ने के बाद और नारायण है ना कोई ऐसा शायद जो कहते हैं जाल बच्चे दूसरे क्यों ही है ना वृत्ति बनाने के लिए वेदांत नहीं है सत्य के स्वरूप का उद्घाटन करने के लिए वेदांत है ये सत्य है याद रखो तो न रखो तो स्थिति हो तो न हो तो वृत्ति हो तो न हो तो निष्ठा के लिए वेदांत नहीं है निष्ठा का बोध उपरा देने के लिए वेदांत ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तो नहीं होता ब्रह्म होता है हाँ, हाँ, ब्रह्मनिष्ठ तो मनुष्य होता है ब्रह्मनिष्ठ तो निष्ठ तो जीव होता है हाँ, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी जो है वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता तो वो क्या होता है वो ब्रह्म होता है ब्रह्मनिष्ठ तो अंतकरण होता होगा है ना यदि अंतकरण नाम की कोई चीज है तो वो ब्रह्मनिष्ठ होता होगा ब्रह्म ब्रह्म होता है ब्रह्मनिष्ठ नहीं ब्रह्मवेदा ब्रह्म ही होती ब्रह्मदेव ब्रह्मनिष्ठ भगवती ऐसे श्रुति थोड़ी है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है श्रुति ये है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है अच्छा अब ये प्रसंग फिर कल